हजारों हजारों एक भुजा में उठा रहा है कोई मनुष्य अंदर अरे देखो दूसरी कोई भुजा और तमाम पड़ी हुई किसी को उठा रहा ऐसे कहते तुम्हारे हुए सबके सब ऐसे जो है वो उठा उठा को कोई थी उनके सबके अंग जंगली उठा उठा करके खाते उठा खा रहे और ये अब ये स्वभाव का अंतर साथ इस प्रकार का दूसरी जी को वेद बात में स्वागत करेंगे और देखो कि जैसे कि बुद्ध साल जो है वो भी इस प्रकार के स्वभाव के ऐसे कुछ लोग जो है इस प्रकार के कौवे और स्वभाव के मित्र होते हैं वो इसी प्रकार से नोचते रहते हैं नोच नोच करके खाने का स्वभाव तो दूसरे का छीन लो आज आप नोच लो और फिर ऐसे जिनका की आदत है आपस में झगड़ा करें वो भी नोच लाए वो भी नोच लाए कहीं से फिर आपस में लड़ेंगे कोई एक दूसरे को नोच जाए अरे चाहे जा रहे है तमाम उसकी क्रिया पड़ी है तो मैं कहीं खा लग हमारे खा जाते तो सोच रहे ऐसे संसार में जो है कहा तो जब वीरों को अस्त्र शस्त्र नहीं प्रकार से घायल हो गए तो घायल हो जल पड़े ऐसा मालूम पड़ता है कि जहाँ तहाँ बहुत से व्यक्ति हर में पड़े हुए हर अब आजकल तो इसके प्रकार की प्रथा नहीं रहेगी लेकिन कभी ये समय भी दूसरी राशि के समय में हो या उससे पहले की बात हो ऐसा होता था कि जब कोई व्यक्ति बहुत घायल है या मरणासन हो गया या तक गिरे इस प्रकार कराते हुए ये गिरे हुए तक के ऊपर गिरे कि लड़के के योद्धा लोग पड़े और पाप जो गति की गति बही जा रही है उसी में आधा शरीर उसके निकल गया पानी में दस्त में और आधा बाहर पड़ा हुआ है तो वो ऐसे गिरे हुए ऐसे शरीर से कहीं कहीं गिर गया तक भाई अब वो जो लोग लक्की किनारे पड़े हुए हैं उनको इसलिए चाहिए कि जो आते हैं और उनकी आंखें निकालते हैं गरीब लोग आते खाते कहीं कहीं गिर आंख कट गए भय और जन खेल चित गए और वहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे अब जैसे नदी हो तो नदी में कोई वो जाता है मछली पकड़ने वाला का जो है पानी रखने कहा जा रहा है तो कहीं कट गए गए बहु बन पाए चढ़े जाए बहु बन पाए अब उसमें बहुत से उस नदी की धारा में बही चले जा रहे हैं उनकी धारा इतनी बही जो है बहु बन पाए और चढ़े घट जाए हाँ वो तो वो बह मतलब उतरा रहे नदी की धारा बह रही है उसमें वो खून की धारा और उसके ऊपर बहुत से वीर मरे करके उसी में बह गए तो पहले में उतराते वो बहते चले तो ऊपर से क्या हुआ पक्षी को जाते हैं और उसको उनके साथ ददान उनके सबके नाम से सुरक्षा प्राप्त हुई है अब उस क्रिया का भी नाम सुन लिया कि तो उनकी पत्नियां भी उनकी मजदूर बने उनकी पत्नियां भी है जैसे संजय जी है तो पार्वती जी है और संजय जी के अगर गण है पुत्र साथ इत्यादि तो पार्वती जी के लिए गण है संजय जी के गण पुत्र साथ है तो इनके पार्वती जी के गण कौन है जोगिनी बात होती सिखाते हैं कटक कटक कटते ये आवाज उनकी कर माने ये भी एक साहित्यकारों की जब हो शब्दों का भाषा का प्रयोग करने का विधान जैसे ये लोग भी हैं दांत में इत्यादि इत्यादि तो उसी प्रकार की आवाज भी शब्दों से भी उसी प्रकार की आवाज आने लगे ध्वनि उत्पन्न होने लगे ये काफी कला तो जम्मू के निकट कटक कटक कटते हैं और भाई भाई अधान है नमक ये सब करना खाते हैं तो खाते हैं और उसके बाद फिर खुआते हैं खा लिए तो पेट भर गया तो हुआ रहे मौज आ रही हुआ है अधान मैंने खूब पेट भर गया आपको अधान है खाते खाते मैंने फिर भी बहुत खाना पड़ा हुआ पेट भर गया था और दपटते हैं और जब खूब भर गया तो खुद बुलाते हैं दूसरे से दपट देखा गया पुराने जाके धोते थे तो उनमें किसी तलवार मार के सर गया तो ऐसे नहीं संकट कटते ही शनि जो है झाड़ के एकदम से गिर पड़े एकदम से नहीं गिरता जब धीरे धीरे करके कोई ज्यादा का प्रभाव होता है शनि ठंडा होने लगता है तब नहीं तो खड़ी रहता है इसलिए सब तक चक्कर काटता रहता है ऐसे देखा अगर जहाँ से कट जाए और सिर के गले के तो ऊपर अगर कोई इतनी बड़ी चीज रखी जाए तो गले के ऊपर ऐसे पास दी जाए तो वो उसको देना जो वो शरीर में रक्त का प्रभाव बाहर नहीं हो तो थोड़ी देर तक वो शरीर जो गर्म बना रहेगा जीवित बना रहेगा मरेगा जैसे कीड़े को कोई कभी कभी देखा जैसे कीड़े को काट के टुकड़े हो जाए तो अपना बनाते रहेंगे जीवित बने रहेंगे जल्दी मरेगा किसी प्रकार से शरीर कष्ट प्रवण हो जाए इस प्रकार से तो जल्दी मरेगा नहीं बना रहेगा इसलिए कहते हैं कि पोते न रुंग मुंड में डोल रहे और सी से परे नहीं कैसे बोल रहे सीट भी जो पड़े हुए हैं तो वो पहले ही का काम बोल रहे हैं श्रावण की जगह काम पैसे कैसे हुए जाए कटे से पड़े हुए हैं वो भी अपने जगह काम बोल रहे हैं तो बोलने के जैसे मुंड रुंग प्रचंड से रत्न बहुत भाव है इस प्रकार से मुंड जो है वो तो काम बोल रहे हैं और जो रुद्र शरीर के अंदर है वो अपने का दूसरे को माता किया रहता है बानर मिटा कर निकर मर नहीं राम फल कर्पित भय अब वो तो मानवता खत्म हो तो मानविकार प्रसारित हो प्रलय काल की वर्ता खत्म हो युद्ध का परिणाम क्या हुआ वो बता अब तक तो राशि को भगवान याद आ गई अब जैसे उनकी याद आई तो बानर ने काकर गई कहीं मरते हैं सब कहते हैं कि बानर लोग धन काकरों के समूह को मरते हैं मार मार के काट काट के प्रकाश गिरा रहे तो क्या हुआ कि राम पद दर्शित भये ये सब बानर जो है भगवान राम की पद से बड़े भगवान हो रहे उन्हीं का दर्शन को हो रहा है उसी के कारण उनको जोश आ रहा है इतना पात्र अब देखो भाषा भी बदल रही लेकिन भगवान राम का स्मरण आया तैसे भाषा की कठोरता खत्म मृदुता ये कई बात है मानस का कर निकर मर्दन राम बल दर्शित भये संग्राम अंदर सुबह सो रहे कहते संग्राम के आंगन में बड़े बड़े वीर सो रहे मन संग्राम के युद्ध क्षेत्र में मन युद्ध हो जैसे आंगन हो जैसे घर का कोई आंगन हो तो लोग अपने आंगन में चारपाई दिखा करके गर्मी जगह मैदान में तय होते हैं ऐसे करके योद्धाओं का सोने का स्थान क्या है युद्ध हो युद्ध भूमि का क्षेत्र जो आंगन सकत तो राम सुमत सोए राम कर निकरण है भगवान श्री राम जी के पाव से मरे हुए बहुत निशाकर युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए सो रहे मरे पड़े मन सो रहे इस प्रकार से युद्ध हुआ तो रावण ने क्या देखा भगवान राम ने बाणों की ऐसी छड़ी लगा दी ऐसे भी साकर मरे ऐसे भी साकर मरे ऐसी खून की नदी बही ये तो सब रावण ने ये सब लीला देख लो उसने तो रावण हृदय बिचारा संघात कर संघात तो रावण ने हृदय में क्या विचारा विभाग कर संघात सब लोग फिर हम कुछ भी कर माया बहुत अर्थों में प्रयोग किया जाता है माया अर्थ का प्रयोग किया जाता है और वैसे वेदांत के अनुसार देखो तो अविद्या का या मोह का जन्म के चक्र में घुमा दे भय चिंता के उत्पन्न करे ये सब करने के लिए उसको अविद्या को क्या करना पड़ता माया जान फैलाना पड़ता तो रावण ने सोचता के अंदर माया जान और इतनी माया फैला दे इतनी माया फैला दे कि बस सब लोग उसी में मोहित हो जाए और सबको पढ़ा सब जितनी निकाचरी सेना है मोह है अविद्या है काम करो रात है तो सबने जिस भी करना साधारण नहीं जैसा कि रावण का हो गया था वैसे ही वास्तव में राम के समय में नहीं हर समय में आप देखो कि संसार इतना क्या चल रहा है ये क्यों इतने सबसे सब लोग बात होती भाई चिंता के लड़ाई झगड़ा संसार संज्ञान सब क्यों हो रहा है हाँ? ये सब माया का कार्य है उसकी जो विस्तार है वो सबके सबके ऊपर सवार है सबके ऊपर उसने अपने अधीन कर रखा है सबकी बुद्धि को भ्रमित कर रखा अगर ये माया समाप्त हो जाए हाँ, तो यह तो सतयुग आ जाए या हृदय आ जाए माया खत्म तो नाम रूप पाप में रखने ही खत्म सृष्टि समाप्त हो जाए तो परमात्मा नहीं रह जाए बात नहीं कुछ न रहेगा और यह सृष्टि रह जाए तो बस सतयुग लोग इस प्रकार से सब भगवान ज्ञान में मग्न आनंद में कहीं कोई झगड़ा नहीं कहीं कोई प्रसाद नहीं बड़ी शुद्धता पवित्रता आनंद से पूर्वक सबका वहां सतयुगी बात हो जाए लेकिन देखते हैं न तो प्रदय हो रही है तो न सतयुग है तो क्या सबका ब्रह्मा ही माया है माया ही गांठ अविद्या की गांठ कहना है सब्जियों में बोल दिया गया कि देखो माया क्या ये ग्रंथ हृदय कम और जब ग्रंथ ऐसे नहीं कि दो रस्तियों को छोड़ दिए और एक साथ फंसा दिया ऐसा हो तो जरा ऐसा करो तो गांठ खुल जाएगा हाँ? एक बार ऐसे लेकर के बांधा उसके ऊपर एक बार और गांठ लगे तब गांठ खुली हुई दो फेरे बांधो अब उसको खींचो तो जितनी खींचोगे उतनी और मजबूत गांठ जो है वो सिकुड़ती जाएगी कड़ी होती जाएगी जितनी रस्तियों को खींचते जाओ ऐसे करके ये माया विद्या इसका संसार में ऐसी फैली हुई कि इसको जितना ही खोलने की कोशिश करो उतनी कटती जाती है ज्ञान उदय हो गया तो फिर भी कहा कि माया तो हमारा खेल है और फिर भी माया को उलझे हुए ये दूसरी माया है जो माया से उलझ करके भी अपने आप को समझते हैं कि हम माया मुक्त है वो दूसरी बात है ये नित्य अहंकार हम्म, कि हम तो मुक्त है अब पहली बात हो तो, तो खुल जाए अभी दूसरी बात कैसे तो कि सोता हो तो जगाया जा सकता है हुँ? और जगता हो और सोने का बहाना कर रहा हो तो उसको जगा सके जगह चलो जाता तो जगह ऐसे करके यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी हो माया का एक धंधा लगा हो तो, तो उसको छुड़ाओ तो ज्ञान छूट गया ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाए लेकिन अज्ञान को ही ज्ञान माने बैठा हो और सब लोगों को सबको मोह समझता हो कर जाएगा उसका अच्छा, कोई इलाज ये अपार माया ये बात इसलिए कह रहे थे कि रावण कहता अभी तक तो हमारी माया माया तो बहुत देखी हमने और उसी से हमने सारे तीनों लोगों को विजय कर रखी अब तो हमारी अपार माया देखो माने जिसका कि कोई माया अपार नहीं पा सकता जिसको वो माया घटना में करता है